बाईसवां उन्होंने आपके बच्चों को नमाज के साथ मुंतकिल किया और वो सात साल के बेटे हैं और उनकी परवरिश उनके जरिया हुई और वो दस सालों के बेटे हैं और उन्होंने उन्हें उनसे अलग कर दिया